वो कहाँ एक राज को मधु कर रहा था नबी एल अलरिक बन इब्बी उलरक के घर में एक राज था